कारों के साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है इस विषय में यह है कथा इतिहास में सुप्रसिद्ध है आख्यान श्रूय में भगवतो जैवी शव्य संस्कार साक्षात्णात् जससु महासर्गेशु जन्म परिणाम क्रम अनुपश्यतो विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भवत भगवान की सभ्य महर्षि थे जिनके संस्कार का साक्षात्कार करने से उनको क्या हुआ दस महासृष्टियों में महासर्वेश बीते हुए दस महासृष्टियों में जितना भी जन्म लिए थे समस्त जन्मों का परिणाम क्रम अनुपस्थित परिणाम क्रम को अनुपस्थित देखते हुए उनके दिमाग में इतना स्थिति पैसा ऐसा स्थिति पहुंच गया कि वो विवेक जम ज्ञानम प्रद्रभवा उनके विवेक ज्ञान झटिति हो गया जवाब जब क्यों हुआ विवेक विवेक ज्ञान के उत्पर विवेक से जनिक ज्ञान कब होता है जब पर वैराग्य होता है अब हम लोगों के अंदर वैराग्य की कमी का कारण क्या है अभी हम लोग अपने ही पूरी कहानी को जानते नहीं जिस कहानी जान लोगे तुम बिल्ली कुत्ता क्या क्या थे कैसे कैसे थे सारा चीज एक साथ दिखा दिया जाए कैसे कैसे दुर्दशा में तुम बीते हो ऐसा घृणा हो जाएगा जन्मों के प्रति हम्म? ऐसी ऐसी सीनरिया दिखा दी जाए कितने जन्म तुम शादी किए थे कैसे कैसे औरतों के साथ कैसे मत लड़ाई झगड़ा हुआ क्या क्या हुआ तो वैराग होगा कि नहीं होगा उसको अपने आप हो जाएगा हाँ? इसलिए नहीं टिकता क्योंकि आपने सही देखा ही नहीं ना आप देखो तो सही हजारों जन्म का क्यों तो नहीं टिकेगा आप अब यार दूसरे के घर में का देख रहे हो खुद के साथ पिता देखा है क्या फिर खुद तो शादी किया नहीं तो क्या मालूम दूसरे का घर का देख करके थोड़ी देर वैराग्य हो जाता है है ना और ये भी तो देख रहे हो दूसरे घर में नया नया शादी करके दोनों जा रहे तो अच्छा लग रहा है वो भी तो देखा आपने उसने मन में ये भी इच्छा जगती है मेरी भी एक होती तो अपना ना वैराग्य होगा कि ऐसे तुम्हारे साथ पहले हुआ था और तुमने यूं ही नाचा और क्या हुआ उस वक्त ये पहले अपने साथ बीते हुए अनेक जन्मों की कहानी यदि आदमी देख लेता है तो वो वैराग्य टमाटो नहीं होने वाला फिर असली कारण यही है कि हम लोगों के अंदर पर वैराग्य का अभाव ही है जो विवेक ज्ञान नहीं हो पाता है और उन्होंने इतने जन्मों को जब देखा ऐसा वैराग्य पक्का हो गया ऐसे उनको इस शरीर के प्रति घृणा हो गया इस जन्म के प्रति भी घृणा हो गया इन मन इंद्रियों के प्रति ऐसी घृणा जग गया परिपूर्ण वैराग्य संपन्न जब हुए उनको विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया प्रादुर्भवत अथ भगवान आवट्य तनुदरहा तमोवाच इसलिए भगवान आवट्य जो तनुधर थे शरीरधारी देवी उन्होंने उस देवी शब्द से कहा महाराज दशसु महासर्गेश भव्यता अनुभूत बुद्धि सत्वया नरक तिरिय गर्भ संभव दुखम संपश्यत एवं मनुष्येश पुनः पुनरुत्पद्यमान सुख दुख यो किम अधिकम उपलब्ध मिति तो पूछा आवट्य महर्षि ने जैकी सभी महर्षि से पूछ रहे हैं भगवान ये बताइए और यानी विशेषण क्या है आवट्टी को तनुधरा कर है अभी शरीराभिमानी है वो और जैगे सभी का शरीराभिमान खत्म हो चुका मुक्त पुरुष है प्राण विशाज से शरीर जो जीवित है उससे बोल रहे हैं तो उसका उनका कोई शरीर से संबंध नहीं है से शिष्य पूछता है और गुरु का मुख से जो निकलता है वो नहीं बोलते हैं जैसा तुम पूछोगे जैसे तेरी भावना है वैसे उसे जवाब आता है जैसे ना आप जितना रेग से कोई बॉल को दीवार पर फेंकेंगे उतनी रेग से वो प्रतिक्रिया करेगा ना रिबाउंड करेगा वो आप धीमी से डालो तो धीमे से आएगा तेजी से डालो तो तेजी से आएगा जैसे डालो वैसे आएगा उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान जिसमें जिस शरीर में हुआ और वो तो ब्रह्म हो गया ब्रह्म ज्ञानी और रह गया जो शरीर हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है वह शरीर भी कभी वही हाल एक दीवार जैसा ही है समझो और आप एक बॉल जैसे फेंक रहे अपने प्रश्नों को उसके जवाब और रिबाउंड उसी हिसाब से आता है तुम्हारी अपने अंदर की भावना पूछने में गलत है तो जवाब भी आपको वैसे ही मिलेगा यानी गलत एंगल से हमने फेंक दिया तो बॉल कहाँ जाएगा तुम्हारे हाथ में तो थोड़े आएगा तो कहीं और जाएगा उसी प्रकार से है यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी के सामने बैठना आसान है लेकिन पूछना बड़ा गड़बड़ है उससे पूछते वक्त बहुत सतर्क रहना पड़ता है गलत एक भी शब्द हुआ तो सारा काम तुम्हारा ही खराब होने वाला उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा हो तो ब्रह्म है ही है इसे मोगुरोस्त मोनो व्याख्यान शिष्य तुच्छ संशया यहाँ भी आके बताएंगे ऐसी कहानियां केवल मौन रहे हो जवाब दिए नहीं और दो बार तीन बार छेड़ा छेड़ा ने अगर जवाब तो दिया तेरे को समझ में नहीं तो मैं क्या करूँ बोला जाओ यहां से हमारे अंत करना भी तैयार है हम तो जवाब दे दिए तेरे प्रश्न बोले कुछ नहीं हो करे जवाब दे दिए तो मुंह से सुनना चाहते हो वो जो पूछ रहे हो उस तत्व को जो मुंह से कहने लायक नहीं है, है? स्वरूप की चर्चा करोगे तो, तो वाचन निवर्तन थे हाँ शास्त्र के आधार बोलूंगा तो दे तो ऊपर से हम पढ़े पहले से बात खत्म हो गया ना फिर नारद जी ने कहा कि हम सब पढ़े इतना है लंबा लिस्ट उतना तो आप एक जन्म क्या सौ जन्म में भी नहीं पढ़ पाओगे इधर नारद जी ने पढ़ लिए थे फिर भी वो कहते तर्क हमने सुना ही था आप लोगों से अनुभव में आज तक नहीं आया तो वो गए उसी हिसाब से इसलिए आप जो है मुझे ऐसे कर दो कि मेरे को उसका अनुभव कराओ तो वो मुख्य लक्ष्य जाने का लक्ष्य क्या है हम केवल पढ़ना जा रहे हैं तो फिर केवल पढ़ाई ही होगी अनुभव नहीं होगा आप योग पढ़ने आ रहे हैं योग को सुनने आए हैं करना तो आपको है ही नहीं है तो क्या फायदा होगा बस शब्द ज्ञान मिल गया और सोचा कि कहीं भाषण झाड़ो कमाओ फिर करने वाले कितने हैं करने वाले कितने करना कितना चाहते हैं तो हम लोग इसे टाल देते हैं कई लोग आते हैं हमको महाराज प्रैक्टिकल सिखाओ बोले अब नहीं समझ जाओ सब देखते हैं उसकी कितनी उत्सुकता बनी रहेगी अब पाठ सुन रहा है तो उत्सुकता है ना चार दिन की चांदी पर राज्य सभी हो ना वैराग कुछ देर सिखा वही होता है जब तो सुना रहा हूं तो वैराग्य है हाँ मुझे करना चाहिए अब हफ्ता भर छोड़ो तो फिर कहा करना चाहिए क्या करना चाहिए अरे छोड़ यार कुछ नहीं दिमाग में आ जाता इसलिए देखना पड़ता है जिज्ञास की जिज्ञासा कितनी है बनारस की जो उस समय जामवालों के समय में थे वे श्रेष्ठ विद्वान लोग कभी भी किसी को सीधा ज्यादा समय नहीं देते दस चक्कर कटवा करके फिर बोल देते हाँ चलो तुम इतना पीछे पड़ा है तो चलो दस पंद्रह मिनट टाइम दे देते और पंद्रह मिनट में भी पांच मिनट तो गप मारेंगे पांच मिनट मंगलाचरण में गया पांच मिनट पाठ होता है अब देखते तुम्हारे कितनी जिज्ञासा वास्तव में है क्या तुम उसे सहन करोगे ऐसे हमने व्याकरण पढ़ा जिसका नाम तो पंडित राम प्रति द्विवेदी ऐसे गजब चालीस मिनट का पाठ में बीस मिनट तो गालियां उसे भरता है पंचम वेद कुछ भी आपने ना भी बोलो हाँ भी बोलो मौन भी रहो तो भी गाली सुनना पड़ेगा आपने कौन प्रश्न पूछा आपने जवाब दी चाहे सही हो तो भी गाली सुनना है गलत हो तो गाली सुनना ही मौन रहे तो पूछो ही मत उनका तो कई घंटों तक तो चलेगा फिर कहानी कुछ बोलना इसलिए जरूरी है हमने पहले देखा मौन रहेंगे तो क्या होता है मौन रहे तो बीस मिनट ज्यादा खराब होता था फिर चाहे गलत चाहे सही बोलो तो दो चार मिनट ही गाली देते लेकिन उनके हर गाली में आशीर्वाद अंदर से प्रेम था कि भाई ये समझे पकड़ ले चित्र से पकड़े उनके भाव अच्छे थे ना अंदर से वो भाव को देखो क्यों कह रहे डांटते तो क्यों डांट रहे वो चाहते तुम और एकाग्र हो जाओ हमने पहले बताया था तुमने ध्यान नहीं दिया उस पर इसका मतलब क्या है तुम्हारी एकाग्रता कम थी उनका डांटना इस बात के लिए कि तुम और ज्यादा एकाग्र और लोग सोच रहे तो गाली देता क्या हो पंडित से पढ़ना हमको बता मतलब, आप कैसे महात्मा हो वहां जगह बैठते हो हम कहते तुम्हें क्या मालूम गुरु कैसे देता है तुमको पता नहीं इसे तो यूं ही रहेगा देखना जिंदगी भर इसलिए हमें उनकी गाली महत्व नहीं हो जो ज्ञान दे रहे वो महत्व है वो गाली भी आशीर्वाद है अब उसके भाव को उनका लक्ष्य को जो समझता नहीं वो तो ये कहे तो उनका जबान खराब है अरे जिसकी जबान वास्तव में खराब होगा उसका विद्या होगी क्या इतना भी अकल नहीं मूर्ख है ये यदि उसके वास्तव में जबान खराब होता हृदय से उनकी भावना ही होती गंदी भावना होती और गाली देते क्या उनके पास विद्या होती श्रृंगेरी के महासभा में उसको सम्मानित किया जब वो शास्त्र जो व्याकरण अर्थ धात्र प्रतिप्रातिपदिगम जिस सूत्र का अर्थ आज तक निश्चय नहीं हो पाया उस पर उन्हें शास्त्र अपना जीत लिया और निर्णय किया ये क्षमता पे साधारण व्यक्ति की बात है विद्या ऐसे हृदय में रह सकता है क्या किसी गंदी भावना हो आदमी भी से को सोचता है वो बाहर का मुकाब देखता है शब्दों को ध्यान दे देता है शब्द का ध्यान नहीं देना चाहिए इसलिए भावना पर ध्यान हम भी बोलते कई बार बड़े कटु बोल देते हैं डांट देते हैं फगाड़ देते हैं तो लोग कहते हैं अरे तो ऐसे बोलते तो समझते हैं नहीं क्यों बोला जा रहा है इसका लक्ष्य क्या है वो समझते हैं या आवट्टी भी पूछ रहे हैं तो उसका लक्ष्य तो समझना है क्यों वो पूछ रहे हैं महासर्गेश भगवत्य भव्यता अनभिभूत बुद्धि सत्वेना भव्यत्व में शोभना रजत तमो मल था भव्य तात्पर्य रजगुण और तमगुण से रहित तो। भव्य कौन है सात्यपुत्र सत्व को लेकर के क्योंकि सत्वगुण के ही सामर्थ्य जो संयम करना धारणा ध्यान समाधि रजगुणी और तमगुणी मन में चित्त में नहीं हो सकता और उसमें भी संस्कार जो अपरिदृष्ट तत्व है संस्कार कैसा है अपरिदृष्ट वर्तमान जो कार्यभूता जो वृत्ति है उस वृत्ति का कारण में जाना कोई साधारण बात नहीं है और वो कारण भी कैसी है स्थूल नहीं सावयव नहीं अत्यंत सूक्ष्म निरय अप्रविष्ट पदार्थ उस कारण तत्व में संयम करना कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है कोई रजगुण तमगुण वाला का अंश मात्र भी रहेगा तो नहीं कर सकता इसे भविता मतलब अति सत्वता अत्यंत सात्विक चित्त वाले होने से आपने जो आपकी कैसी बुद्धि थी अन्न विभूत बुद्धि सत्य आपका जो बुद्धि सत्व था रजगुण और तमगुण का लेश मात्र से वे विभूत नहीं था उसके द्वारा आपने नर को तिरय को अनेक गर्भों में संभव विभिन्न प्रकार के दुखों को देखा है दुखम संपुष्टता देव मनुष्य पुनः ना देवताओं में और मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के जन्मों को लेकर के बारंबार होने वाला सुख दुख यो हो सुख और दुख को जो आपने देखा क्या इतनी आपने देखा कि इससे अतिरिक्त कुछ और देखा आपने जिससे आपके महान पर वैराग्य की प्राप्ति हो गई किम अधिकम उपलब्धम त्वया आपके दृश्य ज्यादा और क्या अनुभव हुआ लोग कहते हैं सुख दुखात्मक संसार है नहीं नहीं सुख दुखात्मक संसार नहीं है इतने ही नहीं है संसार का स्वरूप इससे कुछ और अधिक है क्या है वो बता रहे है। नहीं सुख को दिखते होते अतिरिक्तम अधिकम किन सुख तो का संसार सभी जान मानी है मानी रहे हैं उसमें अधिक नहीं होता उससे भी अधिक क्या आप ये अलक्षित है जवाब देखो जवाब देखो भगवंतम आवट्यम चैस अच्छा भगवान जो है आवट्य के प्रति जगी सभी ने जवाब में बात कहा दशसु महासर्गेश भव्यता अनुभूत बुद्धि सत्य न मया नरगत भवम दुखम संपशता देव मनुष्यु पुनः पुनरुत्पद्य माने न यद किंचित अनुभूतम तत्सर्व दुखम एवं तुम सुख दुख दोनों आत्म संसार करते हो नहीं नहीं सुख अंत अंश है ही नहीं जो कुछ भी है सर्व दुखम एवं ये मैंने ये आवट्टी में कमी वो कह रहा है कुछ अंश सुख भी है संसार में सुख दुखात्मक संसार जो दुनिया कह रहा है उसी को तुमने देखा है क्या कहते नहीं नहीं मैंने जैसे दुनिया देखती वैसे नहीं देखा मेरे दृष्टि में क्या दिखाई दिया सर्वम दुखम जिसको पूर्व में कह चुके हैं आप परिणामता संस्कार दुख गुण वृद्धि विरोधाक्ष सर्वम दुखम व योगी ये जो पूर्व में सूत्र आपने पढ़ चुके हैं द्वितीय पाद का पंद्रहवें सूत्र में उसी को उन्होंने अनुभव कर लिया कौन जगीशव्य महर्षि ने प्रत्यवय में ऐसा ही मेरा अनुभव है कर तब आवट्य महाराज कहते महाराज ये कैसा होगा भगवान आवट्य वाच इदम आयुष्मत प्रदान अवशितम अनुत्तम संतोष सुखम किमिदमी दुख पक्ष निक्षिप्तम कदे संतोषात अनुत्तम सुख लाभ कहा था क्या वो सुख भी दुख कोटि में ही है ये कैसा होगा संतोषात अनुत्तर सुख लाभ पड़ा है हमने और प्रकृति लय प्रधान वशित्व ये एक से एक महान सिद्धियां ये सब दुग्रुप ही है क्या आप ऐसे कैसे कह रहे हो पूछ रहा है वो यदम तो आयुष बताओ यह जो आयुष्मान पुरुष आपके द्वारा जो कहा गया बात है क्या यह प्रधान वशित्व रूपा जो सिद्धि है ऐश्वर्य है अनुत्तम संतोष सुखम संतोष जन अंतम सर्वोत्कृष्ट जो सुख है वो किम इदम अपनी इन चीजों को भी क्या आपने दुख पक्ष में ही डालना चाहते हैं भगवान जगी से विवाच भगवान जगी से भी कहते भाई वो तो दुनिया के सुख की अपेक्षा से कह दिया था संतोषा अनुत्तम सुख ला था लेकिन वास्तव में वो जो अनुत्तम सुख है ना वो भी दुख कोटि में ही है मोक्ष दृष्टिया केवल दृष्टिया उस सुख के चक्कर में पड़ना भी गलत है और हाँ, यहाँ से विरक्त होने के पहले उसमें जाओ संतोष को अपनाओ पहले है ना संतोष को अपनाने का मतलब ये है कि बेटे का नाम संतोष रख दिया या संतोष नाम की औरत है यहाँ पे पंचावय में संतोष नाम का तो औरतों का नाम होता है हाँ, पत्नियों के नाम होते हैं यहाँ अपनाने की बात तो नहीं कत क्यों क्योंकि विशेष सुखापेक्ष यही वैदम अनुत्तम संतोष संतोष सुख मुक्तम केवल अपेक्षा तमेव केवल विशेष सुख की अपेक्षा से कहा जाता है संतोष में भी जियोगे तो आपको श्रेष्ठ सुख मिलेगा इन विशेष सुखों की अपेक्षा से ज्यादा श्रेष्ठ सुख वो है इसलिए उसमें अनुत्तम विशेषण देने उत्तम हो इसमें अनुत्तम सुख ये विशेषण देकर समझाया गया था इन कैवल्य का दृष्टिकोण से विचार करके देखते हो तो वह सुख रूप ही है बुद्धि सत्व से अयम धर्म त्रिगुणा वास्तव में बुद्धि सत्व का यह धर्म है स्वभाव है क्या त्रिगुण त्रिगुण से प्रत्यय हे पक्ष निष्ठ त्रिगुण से जन समस्त प्रत्यय हे कोटि में हम डाल चुके हैं आज चाहे अनुत्तम सुख हो चाहे जो है किंचित सुख हो विशेष सुख हो चाहे कोई भी सुख हो सर्व सुख को भी हमें क्या करना है हे पक्ष में ही डालना पड़ेगा त्रिगुणश्च प्रत्यय जो कोई भी प्रत्यय सुखा का प्रत्यय जो सुखा का प्रत्यय सकल प्रत्यय वास्तव में त्रिगुणात्मक ही है और उसको हमने ही पक्ष में डाल दिया है दुख स्वरूप तृष्णा तुम दो तृष्णा दुख संताप अपगमा तो प्रसन्नम अबादम सर्वानुकूलम सुखम इदम उत्तम उत्तम कहते कि देखो वास्तव में क्या है दुख स्वरूप तृष्णा ये जो तृष्णा तंतु है वो दुख रूप है लोक में इसलिए अनुत्तम सुख को संतोषाद अंतम के समझा रहे संतोष से अंतम सुख क्यों हुआ क्योंकि संतोष सेवा से इसके बस क्या रहता है चेष्टा पिछाचनी पीछे लगी रहती है नहीं तृष्णा एक ऐसी चीज है जिस के कारण से आपको विषय सुख में लगे रहते इसे कहते देखो बुद्धि जो आपका दुख स्वरूप है वो क्या है कृष्णा तुम तो दुख स्वरूप कृष्णा दुप्त संताप अपगमा कृष्णा और तजन्य जो दुख उस संताप का अपगम होने से प्रसन्न अबाधम सर्वानुकूलम सुखम प्रसन्न रहेगा अबाधित रहेगा सर्वानुकूल सुखानुभूति होती है जो उसको हम कह देते हैं अनुत्तम सुख क्योंकि आप संतुष्ट है लेकिन आपका विरोध किस ही रहेगा ही नहीं जैसा भी हो रहा है सब संतोष संतोष में आप जब स्थिर हो जाएंगे कोई आप कुछ दिया जो आपसे ले जाए कुछ भी हो जाए आपसे प्रसन्न यह प्रसन्नम आबाद और उस सुख का इसलिए कोई बात नहीं कर पाते विषय अन्य विषय जाकर उसको बात नहीं कर पाते लेकिन कयोल के दरों में बाईस ये कयोल सुख जो है ना संतोष जन्य सुख नहीं वो स्वरूपात्मक सुख है यद किंचित जन्य सुख होगा वह तब तो बाध्य होता ही है नहीं एक तो निकृष्ट सुख से उत्कृष्ट सुख का बाद होता है उत्कृष्ट में निकृष्ट का बाद हो जाता है वही दोनों चक्कर चलते रहता है संसार में लेकिन संतोषजन जो सुख है वो कैसा है अन्य किसी भी निम्न कोट के सुखों की तरफ किसी भी काल में आकर के बाधित होने वाला नहीं लेकिन वो कैवल्य सुख से बाधित हो जाएगा वह जो उत्तम सुख जो कहा उत्तम सुख वह भी जन्य ही है नित्य रूपा नहीं है स्वरूपता नहीं है जो स्वरूपता सुख होता है वह कैवल्य क्या होता है आत्यंतिक अबाध इसलिए जगह जगह आत्यंतिक शब्द प्रयोग होता है आत्यंतिक आबाद जो है स्वरूप सुख नहीं है संतोष जन अनुत्तम सुख में भी नहीं है अच्छा इस प्रकार से यह सिद्धि का विचार भी हो गया अब कहते हैं प्रत्यय से परिचित ज्ञानम प्रत्यय के अंदर संयम करने से प्रत्यय में संयम द्वारा क्या होता है प्रत्यय का साक्षात्कार जब हो जाता है तो उससे परिचित ज्ञान हो जाता है पर व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है इस समय में वो गुस्सा में है, है? या सुखपूर्वक है या किसी का राग हो रखा है उसको या किसी का द्वेष आकार वृद्धि चल रही है ये आप जानते लेकिन अगला सूत्र समझाएंगे देखो जानने का मतलब ये ना समझिए किस विषय का क्रोध है किस पर गुस्सा हो रहा है गुस्सा हो रहा है मालूम होगा लेकिन किस पर तो आलम्बन जो है विषय जो है गुस्सा का वो नहीं मालूम होगा योगी को अगले चित्त का इतना ही ज्ञान होता है कि उसके अंदर किस प्रकार की वृत्ति चल रही है लेकिन वृत्ति का जो विषय है वो नहीं मालूम वृत्ति का प्रकार ज्ञान होगा इन वृत्ति का आलम्बन जो है विषय जो है उसका ज्ञान नहीं पत्री पर गुस्सा है कि मालिक पर गुस्सा है कि नौका पर गुस्सा है किस पर गुस्सा है ये नहीं मालूम होता लेकिन गुस्सा है इतना मालूम होता है पर चित्त को इतना अध्ययन करके बाहर से हंसते रहते कहीं तो भीतर से पता नहीं क्या क्या होते हैं ये आम आदमी नहीं जान पाते योगी जान लेते बाहर से तो बड़ा हंस रहा है बड़ा प्रसन्न दिख रहा है इन भीतर में तो भैया बहुत दुखी है ये बात जो है योगी ही जानता तो भी वह योगी जो प्रत्यय अपने स्व प्रत्ययों में जो है साक्षात संयम करके साक्षात कर लेता हो प्रत्ययों का वही व्यक्ति के साथ हो सकता है उस योगी में भाष्यकार कहते प्रत्यय संयम प्रत्यय में संयम करने से अर्थात प्रत्यय से साक्षात करना प्रत्यय का साक्षात्कार कर लेने पर क्या होगा कदे तथा उससे परचित ज्ञानम परचित ज्ञान होता है ये कहा है अच्छा उसी का और विस्तार कर रहे हैं जैसे संस्कार का साक्षात्कार करने से आपका पूर्व जन्म का ही नहीं पूर्व जन्म का विषय संपूर्ण सुख दुख हर चीज का अनुभव में आ जाता है वैसे आप परिचित का ही ज्ञान होने का मतलब परिचित के वृत्ति और वृत्ति के विषय का भी ज्ञान होता है क्या इस संशय को दूर करने के लिए अगला सूत्र लाते हैं क्योंकि दोनों में अंतर है स्व संस्कार साक्षात्कार करने से पूर्व जन्मों का ही नहीं उन जन्मों में हुई सारी बातों का उस जन्म में के सकल वृत्तियां नहीं वृत्ति के विषयों का भी ज्ञान हो जाता है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है इसी अंतर को दिखाने के लिए अगला सूत्र आरम्भ होता है न चालंबनम तस्य संसार संस्कार करना तद अनुबंध साक्षात्कार संस्कार का साक्षात्कार करने से उस संस्कार का आलम्बन होता विषय जो होता है उसका भी साक्षात्कार जिस प्रकार होता है उसी प्रकार से क्या किम परिचित साक्षात्कार तस्य आलम्बनम अपनी ज्ञानम भवती न वा इत्याशंज्ञा नो देते नहीं नहीं संस्कार के साक्षात्कार करने से संस्कार जिस विषय का होगा जिस आलम्बन से जो भी है उस आधार का ज्ञान हो जाता है जैसे वैसे परिचित का ज्ञान बड़े हो जाए परिचित की वृत्ति के स्वरूप का बड़े भान हो जाए लेकिन इसका विषय का ज्ञान नहीं होता न तत्म तब वह परिचित ज्ञान जो हुआ था वो सालंबन नहीं होता अर्थ विषय नहीं होता केवल मोटा मोटी वृत्ति का ज्ञान होता है उसके मन की अवस्था जो वृत्ति का सामान्य स्वरूप है राग स्वरूप या द्वेश पंचदा है वृत्तियां है नहीं कौन से कौन से अविद्या राग द्वेशाभिनिवेश अविद्या अस्मिता राग द्वेशाभिनिवेश और उसे प्रमाण को भी जा सकता है प्रमाण विपर्य है ना वो भी पांचों को जान पाएंगे आप ये अनुमान कर रहा है कि प्रत्यक्ष करने जा रहा है कि विपरीत ज्ञान हो रहा है विकल्प ज्ञान हो रहा है कि निद्रा ज्ञान कौन सी वृत्ति चल रही है इस प्रकार से आप ये भी पांच हुई पांच प्रकार का क्लेश पंचक और वृत्ति पंचकों का बोध हो जाएगा लेकिन उस क्लेश पंचक का विषय वृत्ति पंचक जो विषय है सालंबन आलम्बन जो कहते हैं वो उसका ज्ञान नहीं होता क्यों तस्य अविषयीभूतत्वाद क्योंकि वह योगी का विषय नहीं होता है क्योंकि जानना भी नहीं चाहता क्या जान के करना किसका किसका जानेगा क्या फायदा है जानने से मोक्ष में तो उसका बालक होगा संसार के जो है किसकी किसकी आप समस्या हल करेंगे है ना आप किसी किसी समस्या का हल करोगे खुद की समस्या का भी हल नहीं हुआ दूसरे किसी किसी करते फिर हो गया आप इसे जान हो गए उसकी समस्या का हाँ वैराग्य के लिए जान रहे तो कोई बात नहीं जिससे वैराग्य हो जाए लेकिन ऐसा होता नहीं आदमी अगर क्या होते हैं अगला को दुखी जान लिया तो उस दुखी का समाधान करने लग जाए इस जाने में फंस जाते दया जो है ना इसलिए कहते हैं दया पापस से मूलम साधका नाम मुख्यों के लिए दया भी पाप का मूल हो जाता है इसलिए कहा जाता है और मोक्ष मार्ग छोड़ देगा और उनको जो है दया करके जो उनकी कल्याण करने सोचने लग जाए हाँ चलिए क्या करे स्कूल के बच्चे सब भिक्षा बढ़िया दिए बढ़िया सेवा किए ये सब अशिक्षित है चलो यार स्कूल चलाएंगे सोचता अच्छा है हाँ, और स्कूल चलाने के लिए मुंबई दिल्ली घूमेगा पैसा इकट्ठा करेगा फिर आएगा वहां सब बनाएगा लफड़ा में फंस इसलिए उसको न जानना अच्छा है और ये कर इसलिए योगी जो है उसको विषय नहीं करता है अविशी भूतत्वाद योगी न नहीं योगी न भाषाकार कहते थे रक्तम प्रत्यम जाना दे वह राग से युक्त है उसका चित्त कैसा है रक्तम मैंने राग युक्तम यदि रक्तम रक्तम मैंने लाल रंग नहीं या खून ऐसा नहीं रक्तम का रागे न युक्तम यदि रक्तम रागात्मिक वृत्ति से उसका चित्त युक्त है अति इस समय इसके चित्त में जो प्रत्यय चल रहा है वह रक्त प्रत्यय चल रहा है लेकिन अमुष्मिन आलम्बन रक्तमिति न जाना आती वो किसमें अनुरक्त होकर के उसका उसमें वृत्ति चल रहा है उस विषय का उसको ज्ञान नहीं होगा न जाना क्यों पर प्रत्यय से यदालंबन तद योगी चित्ते नालंबनी कृतम पर प्रत्यय मात्र तो योगी चित्त से आलम्बनी बुद्धि जो पर प्रत्यय का जो आलम्बन है उसको योगी अपने चित्त के द्वारा आलम्बन नहीं करता किंतु पर प्रत्यय मात्र का योगी चित्त के द्वारा आलम्बन किया जाता है विषय बना लिया आलम्बन मैंने विषय यहाँ योगिक भाषा है ये आलम्बन आलम्बन कहा करते हैं विषय इस प्रकार से इस सिद्धि का विचार पूरा हो और एक अगली सिद्धि ला रहे हैं जिसको अंतर्धान होने की सिद्धि आप देख रहे हैं तो ना दिखाई दे दुनिया आपको देखना चाहते आप नहीं दिखाई वहीं बैठे हुए हैं लेकिन किसको नहीं दिखाई देता ऐसे अंतर्धान होने की तरीका क्या है कहते अपना फोटो आप बनाते ही हो है ना फोटो है ना आपका सभी ने अपना फोटो खिंचाया है ऐसे नहीं है कि नहीं किसी का ना हो है सभी ने खिंचाया और उस फोटो पर ही ध्यान करना है अपनी फोटो पहले फोटो पहले करो फिर अपने शरीर करीब पूरा ध्यान काय रूप संयमात तब ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असम प्रयोगे अंतर्धानम काय रूप संयमा स्वकाय रूपे संयमा काय का रूप में संयम करो काय का रस में संयम करो काय का शब्द में संयम करो काय का स्पर्श में संयम करो तथ्य यह एक दृष्टांत है केवल रूप एक कथन है उपलक्षण है ये रस गण स्पर्श सभी के लिए पांचों के लिए लेना काय रूप संयम काय का रूप में संयम करने से क्या होता है तद ग्राह्य शक्ति हम है उस रूप में जो ग्राह्य शक्ति ग्राह्यता है ना रूप आपके द्रगाही है सबके द्रगाही होता है रूप रूप में जो ग्राह्यत्व शक्ति है उसको शब्द कर दिया गया जब स्तंभित हो जाता है तो चक्ष प्रकाश असंप्रयोग है तो चक्ष प्रकाश का अविषयीभूत होने संप्रयोग में विषयीभूत असंप्रयोग में अविषयीभूत होने पर वह व्यक्ति क्या हो गया अंतर्धान हो जाता है इस अंतर्धान होने की सिद्धि रूप में संयम करने से स्व काय रूप में संयम करने से स्व शरीर का अंतर्धान करने की योग्यता प्राप्त हो जाता है इसी प्रकार से स्वशब्द का संयम करोगे तो आप बोल रहे हैं किसी आप चाहेंगे अमुक मेरा बात न सुने बस आप बाकी सब सुन रहे हैं और उस आदमी को सुनाई नहीं देगा जिसको आप चाहते या न सुनाई दे हमने देखा ऐसे कलाकार जो है कैमरा मैन को देखा कैमरा होते तो कैमरामैन कैमरा मैन कैमरा फोटो खींचने वाला बड़ा कलाकार था अब उसको जो है एक जगह भागवत चल रही थी महाराष्ट्र में उसके किसी औरत से थोड़ा भिड़ गया कोई बात नाराज हो गया वो उससे और उसने वो बार बार फोटो चाहती थी शायद बोली होगी उसमें मेरा खींचो मेरा खींचो चिड़ गया वो चिड़ गया ऐसा चिड़ गया किसी फोटो में औरत आई ऐसी कैसे चीजें समझ में नहीं आया बीच कहीं यहाँ बैठ जाए वहां बैठ जाए वहां बैठ जाए मेरा आ जाए ये सोच करके बैठती थी वो और पता नहीं उसने क्या कलाकारी करता था उसका फोटो कभी नहीं उसके चारों तरफ के फोटो आ रहे हैं लेकिन वो नहीं आती गजब है क्या करता है वो वो क्या कर लिया था भाइयों को तरकीब बता दिया सरल तरीका उसने वो लेंस में जो है ना एक काली बिंदी रख दिया था ब्लैक कलर है ना काला सा वो बिंदी लगा दिया ग्लास के ऊपर हल्का सा और जहाँ उसकी चरानी है उस पर बिंदी को घुमा देता था चार तरफ आएगा और बिंदी काटते हुए <laughs> नहीं युक्ति से मुक्ति मेरे खाने मतलब देखो तरीका कैसा है कला है ना अब बाद में सारे फोटो देख रहे औरत करती है स्वामी जी मेरा फोटो इसमें भी नहीं है मैं तो बीच में थी यहाँ थी बीच में क्यों नहीं आई मैंने तो मजा कर तो भूतनी है ना भूतों को फोटो थोड़ा ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं वो अमुक का ही नहीं आने दिया उसके लिए उतना युक्ति तो कर दे बता दे नहीं तो मालूम क्या होता नहीं तो लोग का सिद्ध पुरुष है तो हाँ, एक को छोड़ के सबका निकाल निकाल दिए तो सिद्धि मानेंगे ना दुनिया तो इस बात को पहले तो पोल बटे अपने आप बता दिया तो हमें पता चल गया कि ऐसे युक्ति से किया है तो कहने का मतलब आप जिसको चाहेंगे उसको सुनाएंगे जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं सुनाएंगे जिसको चाहेंगे उनको आप अपने शरीर का दर्शन करा देंगे जिसको नहीं चाहेंगे उसको शरीर का दर्शन नहीं कराएंगे ये तो भाई कुछ पता है किसी भी सिद्धि का समयावधि नहीं है तो ये आपके अपने अंतकरण में कितना कूड़ा भरा है कौन रहा है सभी का कूड़ा पेटी का कोई हिसाब किताब तो है नहीं कितना गहरा है कितना लंबा चौड़ा है कौन रहा है, है? वो कितनी साफ होगा उतनी ही निर्भर है अधिक से अधिक शुद्ध जिसका है उसका न्यून से न्यून समय में कार्य सिद्ध हो जाता है आप इसको जानना है आपने ही लघु कितने में सिद्ध हुआ जान लो है ना आपने लघु सिद्धांत को मुझे पढ़ा संग्रह पढ़ा जो भी पढ़ा वो कितने समय में सिद्ध हुआ शास्त्र को ग्रहण आप कर रहे तो कितने समय में ग्रहण हो पा रहा है सम्यक ग्रहण कितने समय में हो रहा है, है? समझ लो उसी के हिसाब से कितनी कूड़ा अंदर है, है? हाँ? हाँ हाँ क्यों नहीं वो आगे आएगा मंत्रिमंडल औषध आदि नाम आएगा जवाब देंगे उसके अन्य भी तरीका है ना सिद्धियों को प्राप्त करने यही एक तरीका नहीं है और भी तरीके हैं उन तरीकों को अपना लेकिन उसे क्या नतीजा हुआ ये भी तो देखो ये सही तरीका बता रहे अब आगे बताएंगे मंत्र से मणि से औषधियों से कर सकते हैं जन्म का संतान है ना वहां पर अनेकों तरीका है अब वो तरीकाएं जो है ना तुरंत दिला दो तो देंगे तो उतनी खतरनाक होगा जैसे आदमी जो है ना दुनिया में दो प्रकार के आप देख सकते हैं रईस रईस चंद लखपति जो होते धनी होते हैं दो प्रकार एक होते खानदानी खानदानी समझते ना तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बहुत सरल होते हैं बड़ी सीधे साधे और हाँ। एक होता है जो आज भी का कटोरा लेके घूम रहा था एक दाम जो खुल गई उसकी बढ़िया करोड़पति तो उसको तो देखो आप तो नाश जहाँ भी जाएगा यूँ दिखाएगा अंगुलिया सेकंड से तो नहीं करेगा अरे सेकंड यूँ होता है क्या अब पहले यूँ करेगा फिर यूँ करेगा मैं पहले दिखाएगा देखो मेरे अंगुलियों में कितनी अंगूठी सब हीरा आहा फिर दोनों बहुत अंतर है आपने भी अनुभव किया होगा अपने जीवन में है उसी प्रकार सिद्धियों में भी जो हम खानदानी सिद्ध होते हैं ना वो सही होते हैं जो झटपट पाया सिद्धि पुटा पोटा करके वो आदमी वही आदत होता है जो आज का वही होता है व्यवहार में भी आप देख सकते हैं इन चीजों को सारी चीजें वैसे योग साधना में भी है वो तो कर्म वशात है या साधना वशात है आप जितनी झटपट कोई चीज प्राप्त करने की कीजिएगा उतना ही वो आपके नुकसानदायक हो और उसको सही गति से प्राप्त करे कोई बच्चा है मान लीजिए पांच साल का है और एक इंजेक्शन मार दो तुरंत दस साल का बना दो मान कह रहा हूँ ऐसे बना रहे ना अरे मुर्गियों को नहीं बना रहे क्या जो मुर्गी के अंडा को फूटने में एक हफ्ता लगनी चाहिए 24 घंटे के अंदर बना देते हैं उसकी शक्ति सामर्थ्य बुद्धि योग्यता कैसी होगी आप सोचिए जिस स्वाभाविक विकास उस विकास को अपने विरुद्ध में चला आप इंजेक्शन देते हैं दवा गाय को दूध धड़ धड़ धड़ निकलेगा तीस किलो लीटर जब तीस लीटर दूध जो है जैसी गाय के एक लीटर दूध बराबर है फिर कोई दम नहीं है वो बेकार है बल्कि वो पाप है जबरदस्ती उसके जो है सार को खींचना रस को खींचना तो दोनों में अंतर है हर चीज में आप देख सकते हैं जो भी चीज हम यदि मंत्र से प्राप्त कर सकता हूँ मणि से प्राप्त कर सकता हूँ औषधियों का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकते सिद्धियां लेकिन वे सिद्धियां उत्तरोत्तर उतनी खतरनाक होती जाती ये वास्तविक प्रकार से प्राप्त करने का इससे थोड़ा निम्न कोटि तरीका है मंत्र से प्राप्त करना उससे भी घटिया मणि से प्राप्त करना उससे भी घटिया औषधियों से प्राप्त करना उससे भी घटिया जो जन्मद प्राप्त हो गए तो खतरनाक सबसे अधिक है दुरुपयोग शुरू से उसके माँ बाप उसका कर्म लग जाता जो जन्म तो सिद्ध होता है हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा इतना गीता पर वेदांत पर ऐसे प्रवचन देती थी करुणा मिश्र नाम की लड़की भोपाल की थी इतनी जबरदस्त और कहीं भी ले जाओ वो ऐसे जैसे छोटे बच्चे होते वैसे ही रहती थी खेलती कूदती थी उसका नाम पुकारा अपने मैं से झटी त्याग के बैठे आसना कर बैठेगी जब बोलेगी तो सुनते रह जाओ ये सब मंडलेश्वर शंकराचार्य सब फीके पड़ जाते थे उसके साथ ऐसी बुद्धि लेकिन सब क्या पैसे के लिए माँ बाप ने इसको ले जाकर ले जाकर राह कर दिया कुछ दिन के बाद बुद्धि ऐसी हो गई वो बेकारी हो गई जन्म तो जो सिद्धि होती है सबसे खराब उसका निश्चित रूप में दुरुपयोग हुआ आप नहीं करेंगे दुरुपयोग आपका इस्तेमाल दूसरे लोग करेगा उन सिद्धियों का शो में देखो हमारा बच्चा ही कर सकता है हमारा बच्चा ही दिखाता है सब ले लेकर घूम कर खराब कर इसे जन्म का तो सबसे अंत में लिया मंत्र मणि ओझ जन्म तंत्र आगे आएगा सुप्रस्तार पर विचार करेंगे काय रूप संयम तब ग्राह्य शक्ति स्तंभ चक्ष प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धान सूत्र विचार चल रहा है भाष्यकार कहते काय रूपे संयम आपके अपने काय का रूप में संयम करने से रूप से यह ग्राह्य शक्ति रूप के अंदर विद्यमान जो ग्राह्य शक्ति है ताम प्रतिबंधना थी उस शक्ति को आपके अपना संयम सामर्थ्य प्रतिबंधित करने की क्षमता आ जाती है संकल्प मात्र से वह शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है तो ग्राह्य शक्ति स्तंभे नहीं वो ग्राह्य शक्ति उसका स्तंभित कर दो तो जैसे क्या होगा चक्ष प्रकाश असम प्रयोग है चक्षु के द्वारा यथा आप रूपों को प्रत्यक्ष कर लेते प्रकाशन कर लेते हैं वैसे प्रकाश करना आपके लिए असंभव हो जाएगा चक्ष प्रकाश असम प्रयोग है अंतर्धान उत्पत्ति योगी योगियों को अंतर्धान हो जाने की शक्ति प्राप्त होती है ये तीन शब्दाद अंतर्धान भी उत्तम वेदाव्याम आ गया ना किसी के द्वारा ऐसा रूप अंतर्धान है शब्द अंतर्धान रस अंतर्धान गंध अंतर्धान स्पर्शांतर्धान भी समझ लेना वेदव्याम ऐसे सिद्धियों वाले थे जिसे कहते हैं ना कि स्पर्श अंतर्धान की विशेषता यही होती है कि ब्रह्मचर्य परिपक्व हो जाए स्पर्श अंतर्धान करने की क्षमता आ जाए स्पर्श पर अधिकार प्राप्त हो जाए तो स्वतः ही ब्रह्मचर्य प्रसिद्ध हो जाए कारण है क्या कि काम वासना का जग करके ब्रह्मचर्य का नाश होने का पीछे स्पर्श ही मुख्य कारण है स्पर्श इंद्रिय ना हम लोग तो इंद्रिय इसे शीतल मंद वायु आ जाए या गर्मी हो जाए कुछ लग जाए तो अंदर ऐसा विकार प्रकट कर देता है जिस विकार का अंश ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है और स्पर्श में स्वयं है चाहे कोई नग्न स्त्री भी स्पर्श कर दे आलिंगन कर ले कुछ नहीं होने बात श्री गौरी स्तनालिंगना अयन शिव जी जो है नव युवती गौरी पर्वती को अपने बैठे नग्न होकर के बैठी हुई है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं क्यों उन पर इंद्र पर भी ये स्पर्श संयम कर चुके हैं सर्वश संयम है वहां पर स्पर्श सभी का इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता स्वात्मा रामतया का क्यों तब हुआ क्योंकि वो अपने स्वरूप में रमण करने वाले शरीर में उनका रमण नहीं केवल रूप की बात नहीं शब्द रस गंध स्पर्श सभी पर संयम करेगा तो उसे क्या होता है वह दूसरों के से वो अपने आप को अंतर्धान करे क्षमता आ जाती है अंतर्धान का मतलब क्या दोनों का बीच व्यवधान हो जाना आप और हम दोनों बीच व्यवधान होना ही अंतर्धान होना हम हैं फिर आपको नहीं दिखाई दिया ये अंतर्धान अंतर में मध्य धान मन व्यवधानम तो होते हुए भी न दिखाई दिया होते हुए भी न सुनाई देना बोल रहे हैं फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है, है? इसमें हर चीज स्पर्श करने पर भी आपको अनुभव में नहीं आता उसका स्पर्श का इस तरह से चीजों को सभी को लेना है ये कह दिया उसने भी और विस्तृत विचार करेंगे अगला सूत्र में